उसका कुछ भी एक भी अंश नहीं था वहां पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा अनुमान प्रमाण नहीं समझे आप वहीं पहुंच जाएगा वो जैसे एक बालक की स्थिति उसने बनाई प्रलय की वजह पूरे विश्व की आधी सृष्टि में चला जाता है वो प्रलयवतावस्था बनाता बनाता आने वाला जो प्रलय है उसके आने वाला प्रलय जो होगा उसको भी ऐसे ही अनुमान प्रमाण से अशोकमान से उसमें चला जाता है वो और इसके दोनों छोरों को इसने प्रलवत बना डाला सूर्य चंद्रमा भी ले लिए तो पूरे संसार को परलय की जो दो अवस्थाएं हैं जब नहीं बना था अब जो प्रलय होगा इनको ऐसा इकट्ठा कर दिया उसने <laughs> तो जो ऐसा इकट्ठा कर दिया तो वर्तमान जो है वत स्थिति में हो गया अब ध्यान दें वास्तविकता यह है प्रलय है नहीं आज वर्तमान में क्या समझे आप ये बात समझ में आई नहीं आई यहां भ्रांति होती होगी पढ़े ये ऐसी भाई अनुमान प्रमाण से तो ये अवस्था है ही जिसको मैं प्रलवत मान रहा इसमें कोई संदेह नहीं है उसके मन नहीं समझे आप बोलो नहीं आया उसका तो हम्म? अनुमान प्रमाण से ये सिद्ध है कि ये अवस्था ऐसी ही होती है या शब्द प्रमाण से और ऐसी होती है तो ऐसे बुद्धि में देखेगा ही वो तो बुद्धि में ये देखेगा ही ना तो मैं भोगता रहूंगा ना मेरा भोगे खाने पीने वाला रहेगा तो उनको देखेगा वो नहीं समझे जी प्रशांत जी का जो प्रश्न था ना हाँ वो ये कह रहे हैं कि जब भुगता भी नहीं रहा है और भी नहीं रहे प्रलय अवस्था बनी हुई है अब रक्षा किसकी मांग करे हो अब इसका उत्तर सुनो आप इसके इस ज्ञान को विज्ञान को रखिए शरीर की हम प्रलवत अवस्था को देख रहे हैं पर आज हम जीवित हैं ये भी हमारा दिमाग काम करता है ना मर नहीं गए तो नहीं नहीं समझा नहीं आप जब मरेंगे तो हमारी स्थिति ये होगी जब नहीं थे तो स्थिति यही थी थी और होगी आप समझे नहीं समझे ऐसी स्थिति थी कोई संदेह नहीं है ऐसी स्थिति होगी कोई संदेह नहीं है और आज हम जो जीवित हैं वर्तमान में इस समय ये ईश्वर की ही शक्ति से जीवित है ईश्वर रक्षक है हमारा जो आज हम अब ये विचार तो रहेगा कि मैं विचार रहा हूँ ये तो रहेगा या नहीं रहेगा क्यों साधन विचार रहा हूँ और मैं हूँ तो फिर प्रलय कहा हुआ नहीं फिर सुन लो वो जो स्थिति प्रलवत होती है उस होने वाली स्थिति को उसको वर्तमान काल के सारे को प्रलवत बना के जो थी पहले की स्थिति वो उसको स्वीकार्य है और जो आएगी वो स्वीकार्य है जब है तो वर्तमान वाला तो प्रलवत बनेगा ही ये उसको मानना पड़ेगा कि भाई ऐसी स्थिति थी और ऐसी होगी ही तो वर्तमान नहीं रहना है ऐसी बनाएगा तो कुछों को तो नहीं आया होगा तो कुछ को समझ में आया होगा किस किस को नहीं आया आप ये बताओ एक दर्शन की बात लो अनित्य को अनित्य मानना नित्य को नित्य मानने में क्या रहस्य है आप मुझे ये बताओ नहीं आया समझ में देख फिर सुन ईश्वर ने महतत्व को बनाया फिर अहंकार को बनाया सूक्ष्म शरीर को बनाया स्थूल भूतों को बनाया नहीं बनाया ये सारे के सारे अनित्य हैं ये जानना विद्या है अब क्या समझ में आया साधक जी देखो जो पदार्थ जैसा है हाँ। हुआ है तो अनित्य है नहीं अनित्य अनित्य कैसे है ये वो देखना चाहेगा वो मिटा हुआ होगा तो अनित्य स्वीकार है तो वर्तमान ही केवल मानेगा तो अनित्य नहीं मान रहा उसको क्या कुछ आया समझो नहीं इस उदाहरण से तो पकड़ माई होगी कुछ बात है हाँ जी अनित्य को अनित्य मानने का मतलब है उसको प्रकृति के रूप में देखना अनित्य होगा तो सत्व रजतम होगा ये आप समझे नहीं समझे नहीं आया समझ में है हाँ जी क्यों बोलो नहीं आया हो तो अनित्य का मतलब सत्व रजतम होगा ये मैं तत्व नहीं कोई भी नहीं चौबीस में से तेईस को हटा दो तेईस के तेईस बिल्कुल प्रलय अपना दिए उसने बौद्धिक स्तर पर भाई सत्वर तम है वो तो अब था भी है और होगा भी तो ये प्रलय होता सब बनानी है अनित्य को अनित्य जानना और ये स्थिति सतत बनी रहे ना ये ये विवेक कहलाएगा अर्थात चार क्षेत्र विद्या के है ना तो चार क्षेत्र विद्या के हैं वो क्या समझ में आया बुद्धि का जल्दी चला आकर उसके साथ में पकड़ को इतनी अच्छी रखना चाहिए बताने वाले की बात पकड़ना दूसरी बात को भी सोच लेना चार क्षेत्र अविद्या के है ना जैसे और चार विद्या के हैं तो अविद्या के क्षेत्रों को इसी रूप में देखना अनित्य को अनित्य नित्य को नित्य असूची को असूची सूची को सूची दुख को दुख ही देखना अब हम वहां भी इसको ले जाएंगे संसार का जो सुख है वो उसको दुख दिखाई देना चाहिए क्या समझा जो संसार का सुख दुख दिखाई देता है तो वो विद्या है और वो सुख दिखाई देता तो विद्या नहीं है कुछ समझ माया जड़ को जड़ चेतन को चेतन आत्मा को शरीर आदि जड़ दिखाई देते हैं जैसे आपका मेरा देर ये जड़ दिखाई देते हैं तो विद्या है और ये चेतन दिखाई देते हैं तो तो ऐसे समझना चाहिए अब विराम सज्जनों आपने कल प्रसंग मन को रोकने की विधि किन किन उपायों से कैसे होती है ये सुना था आप सदा इस बात का ध्यान रखिए कि व्यवहार काल को अच्छे प्रकार से समझ करके सिद्ध किया जावे दूसरी बात विद्या पठन पाठन के कर्म को क्रिया को अच्छे प्रकार से संपादित किया जावे तीसरी बात उपासना के स्वरूप को ठीक ठीक समझ के उसका प्रयोग किया जाए इन तीनों में से आप यदि किसी को भी उचित ऊंची स्थिति में उत्कृष्ट अवस्था में नहीं पहुंचाएंगे तो आप विफल हो जाएंगे पठन पाठन के विषय में आपको बात सुनाई गई थी कि कम से कम ये व्यक्ति इतनी योग्यता तो अवश्य ही बना लेवे जिससे दस लकारों के रूप लिखना उनका अर्थ करने में समर्थ बना लेना उनके पढ़ने में उनके अर्थ कर लेना और न्यून से न्यून आत्मने पद धातु एक के कम से कम परस में पद धातु एक के दस लकारों में रूप उसको आने चाहिए फिर ये जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं रचनानुवाद कौमदी का प्रथम भाग और दूसरा भाग और तीसरा भाग इनको अधिकार पूर्वक पढ़ लेना और दूसरों को पढ़ा देना फिर संधि विषय कार्य किए ये ग्रंथ जो छोटे छोटे ग्रंथ होते सामासिक समासों का प्रकरण इनको आप पढ़ सकते हैं पढ़ा सकते हैं लिख सकते हैं और संस्कृत भाषण परस्पर वार्तालाप और प्रवचन दे सकने की योग्यता कुछ समझ में आया कम से कम इतनी स्थिति तो अवश्य ही बना लेनी चाहिए कम से कम अब आप देखेंगे आपसे ये कहा जाए आपने इतने दर्शन पढ़े तीन चार पांच जैसे और कोई ये कहे कि आप इस रचना अनुदान कौमदी के पहला दूसरे तीसरे भाग को पढ़ा दो तो आप कहेंगे मैं पहले को पता नहीं पढ़ा सकूंगा या नहीं दूसरे की करेगा कोई बात तीसरे की वो करेगा ही अब क्या योग्यता बनाई आप जबकि आपके पास पढ़ाने वाले विद्वान रहते हैं आप ये नहीं कह सकते कि हमको कोई बताने वाला नहीं मिला कुछ समझ में आई अब पढ़ाने में जब बाधा उपस्थित होगी तब इसका मूल्य ज्ञात होगा आपने पढ़ा और समाज को क्या देन दी जो पढ़ा नहीं सकते आप विद्यालय में पढ़ते हुए इतनी योग्यता नहीं रख पाए इन तीन ग्रंथों को तो भाई अधिकार पूर्वक कोई विद्यार्थी पढ़े तो मैं पढ़ा सकता हूं तो विद्यालय की क्या सहायता की आपने वही बात वहीं दिखती रही या और कोई पढ़ाने वाला है नहीं आप पढ़ा नहीं सकते यही कहते रहिए कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो पढ़ने पढ़ाने में आलस्य प्रमाद को छोड़ दो पुरुषार्थ करो परीक्षा की दृष्टि से सुनिए आप आपसे कोई विद्वान बातचीत करता है धारावाही बोलता है तो आप उसके साथ धारावाही लकारों में जो प्रयोग होंगे उसमें बोल सकते हैं यानी मान लो वार्तालाप करेंगे मैं आपसे बात करता हूं आर्य समाज से प्रथम नियम से कह अर्थ है कौन बोलेगा आप में भगवान बदतु आर्य समाज से प्रथम नियम से एवं अर्थो अस्ति यद आ, क्या बोला एवं अर्थो अस्ति हाँ यद सर्वेशा पदार्थाणाम हम्म। ये विद्या ज्ञायन्ते सर्व सर्वासां सत्या सत्यविद्यानां च मूलम् ईश्वरः अस्ति मूलम् साधकमहाभाग अन्यभागः परित्यक्त संस्कृते उत्तरं देयम् किमपि श्रवणमस्ति हा हा विद्यायाः जानन्ति तेषाम् आदिमूलः परमेश्वरो एव अस्ति ते के पदार्था सन्ति ईश्वर जीव प्रकृति तेषाम् आदिमूलम् ईश्वरः न एतं भवितुमर्हति ईश्वरः अनादि वर्तते जीवात्मा भी अनादि अस्ति तर्हि एतेषां मूलं कथम् ईश्वरो भविष्यति कार्यपदार्थानां कार्यपदार्थानां किं भो ध्रुवानन्द किं केषां पदार्थानां संस्कृते संस्कृतभाषया एव उत्तरं देयम् एतयम् आदिमूलं परमेश्वरो अस्ति नहीं नहीं एतसाम आदि परमेश्वरो अस्ति किम संदीप माँ भागे केशाम पदार्थानाम आदि मूलम परमेश्वरो तेषामादि मूलम परमेश्वर भवते यदि प्रकृति अनादि न भवेत पुनः जीवात्मा भी अनादि कथम सात यदि मूल विषय ईश्वर है कथम एवं पुनश्च केशामादि मूलम एता एतावती एव व्याख्या वर्तते किम् अन्यकः उदयं भव भवान् किम् उत्तरं प्रदास्यति कृते फलितं न समर्थः न अस्तु अन्ये भवान् संस्कृते वक्तुं न पारयामः न पारयति तर्हि एतदेव अहं ज्ञापयामि एतावती निर्बलता वर्धते भवति तद् सा निर्बलता दूरे न क्रियते वासुदेव जी आ रहा कुछ समझ में किम् उत्तरं नी उत्तरम् तस्य उत्तर भवतः प्रश्नस्य उत्तरम् इत्थं भवितुमर्हति यत् येषां गुणानां कर्माणां पदार्थ कर्माणां कथं भविष्यति कर्म कर्माणां किं शुद्धं साधक महाभागे कर्माणां शुद्धं कर्माणां कर्म किम् पुनः वदतु येषां गुणानां कर्मणां कर्मणाम् अधुना साधु अभूत् द्रव्याणां च आदिर्वर्तते तेषाम् ईश्वरः आदिमुलो अस्ति किं का भाषा उक्ता भवता तेषाम् ईश्वरः आदिमुलो केषाम् येषाम् आदि अस्ति येषां पदार्थानां गुणानां कर्मणां च तेषाम् ईश्वरः आदिमुलो अस्ति केषाम् येषामपि आदि आदि अस्ति तेषाम् के के ते पदार्थाः सन्ति ये कार्यपदार्थाः कार्यपदार्थाः के सन्ति सम्पूर्ण सम्पूर्णः अस्ति द्वितीया जीवा जीवात्मनः कर्माणि सन्ति जीवात्म नाम कर्माणि यानी सन्ति तेषां कर्मणाम् आदिमूलमीश्वरो अस्ति अर्थात् आधाररूपेण यत् ईश्वरस्य निर्मित शरीरेण <laughs> सा कर्तुं समर्थो भवति साधकमहोदय वदतु एतत् पदार्थ स्थूलजगत्पर्यन्तं ये कार्यापदार्थाः सन्ति हम्म। तेषाम् आदिमूल परमेश्वर एतत् एवं महतत्वत आरभ्य सत्त्वरजतमसां साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारः अहंकारात पंचमात्राणी उभयम इंद्रियम पंचमात्रेभ्य स्थूल भूतानी इति पंचमी स्थिर पुरुष इति पंचमी स्थिर एतेषाम पदार्थानाम आदि मूलम परमेश्वरो अस्ति ध्रुवानंद महोदय ईश्वर आदि मूलम अस्ति न वा ईश्वर उपादान कारणम आदि मूलम अथवा निवृत्त कारणम आदि मूलम आदिमूलस्य क अभिप्राय गणवीर महोदय निमित्त कारण रूप, रूपेण भगवान कथम यथा यथा कुंभकारा घटस्य निमित्त कारण रूपेण आदिमूलं भवति तथैव ईश्वरः अपि संसारस्य निमित्त कारण आदिमूलो अस्ति आदिमूलो अस्ति आदिमूलमस्ति आदिमूलमस्ति अस्तु अच्छा आपने अनुभव किया या नहीं किया आप प्रश्न उत्तर जब करेंगे किसी विद्वान के साथ या बातचीत करेंगे तो आपको कैसे सफलता मिलेगी आ गया समझ में व्यवहार में जब विफलता मिलेगी तब आपको दुख होगा और जहां पढ़ते पढ़ाते रहे वो संस्था के ऊपर भी एक कलंक लगेगा इसका भी ध्यान देना पड़ता तो ये आपको पठन पाठन का एक भाग सुनाया अब आपको उपासना का प्रसंग जो हम मन को कैसे रोकते हैं मन की क्या क्या स्थिति अवस्थाएं होती हैं उन स्थितियों में हमको क्या कुछ करना पड़ता है जैसे एक प्रसंग था कि संसार को प्रलय जैसी स्थिति में पहुंचा दो जब संसार प्रलय जैसी स्थिति में पहुंचेगा उस समय मन को एकाग्र एक विषय पर लगाना विविध वृत्तियों को रोक देना ये सफलता मिलेगी हाँ जी वासुदेव जी मैंने क्या बताया रात को नींद आई थी या नहीं आई थी अत्यंत भूखे व्यक्ति को अत्यंत प्यासे व्यक्ति को अन्न जल के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता ऐसी स्थिति में जो सुनने वाला सुनता है तब विद्या आती है नहीं तो नहीं आती क्या समझ में आया विद्या कब आती है और त्रिशासुर को जैसे अन्न जल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता ऐसे सुनने वाला जब उस उसको विद्या के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता तब वो उस विद्या को समझता है संसार को प्रलयवत पहुंचाना प्रलय जैसी स्थिति बना देना इसमें जैसे शंकाएं उभरती हैं उनका भी समाधान करना चाहिए शंका जैसे उभरी थी यदि हम संसार को प्रलय जैसी स्थिति में ले जाएंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम और संसार जैसे हैं ही नहीं ऐसा मन में उभरता है इस विद्या को दर्शनों से इस विद्या को अनुमान प्रमाण से आप समझ सकते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व संसार बनने से पहले इस संसार की क्या स्थिति थी इसको हम जानना चाहते हैं आप शब्द प्रमाण से लेके चलेंगे ना तो सांख्य को ले लो उस ओर से चलो सत्तर रजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति सत्व रजस्तम की जो साम्य अवस्था है उसका नाम प्रकृति है अर्थात सत्व नाम के पदार्थ बहुत अधिक है और उनको इकाई में गिन दिया जाता है क्या समझे वेद मुनि जी पदार्थ बहुत है वो कैसे साधक जी बोलो कैसे सत्व रजस तमस तीन प्रकार के जो परमाणु हैं वो अब अपने स्वरूप में असंख्य हैं सत्व पदार्थ जो है वो अलग अलग छोटे छोटे रूप में इतने अधिक हम गण नहीं सकते उनमें जो रजोगुण जिसको बोलते हैं वो रजोगुण वाले पदार्थ या परमाणु भी इतने अधिक उसको हम गिन नहीं सकते तमोगुण वाले जो पदार्थ है परमाणु उनको भी हम गिर नहीं सकते तो उसने देखा कि ये अवस्था ऐसी थी जब संसार नहीं बना था ऐसी अवस्था थी अच्छा वो जानना चाहेगा उस समय हमारे शरीर और इंद्रिया खाना पीना ये सारे व्यवसाय वो देखता कुछ भी नहीं था तो उसको बुद्धि बनानी पड़ेगी कि कुछ भी नहीं था क्या समझ में आया क्यों साधेंगे ये बुद्धि बनानी पड़ेगी कुछ भी आप भी समझ रही हो या नहीं इन बातों को बार बार सुनो इन बातों को बार बार पढ़ो भी अच्छा ये समझ माने लग जाएगी ना सुनो ना पढ़ो ना विचार करो तो आज से 20-30 वर्ष में भी समझ में नहीं आएगी वहीं खड़े रहेंगे आप ये बात है तो स्वाभाविक है तो उसको उसने देखा ऐसी अवस्था थी हाँ तो वो परले की अवस्था है वो तो अच्छा जब ऐसी अवस्था वो कहेगा कि अब आने वाला जो समय है ये अवस्था आएगी या नहीं आएगी तो शब्द प्रमाण से अथवा अनुमान प्रमाण से वो सिद्ध करेगा कि वही अवस्था फिर आ रही है अब क्या समझ में आया प्रश्न उत्तर होंगे यदि नहीं आ रही है तो उत्तर दो आएगी नहीं यदि आती है तो उसका प्रमाण से सिद्ध करो आने वाली कुछ तो समझ रहे ना आने वाला प्रलय कैसा होगा हाँ जी साधक जी जैसा पहले था ऐसा ही होगा क्या उसमें संशय है यदि संशय है तो दूर करो अनुमान प्रमाण से शुद्ध प्रमाण से संशय हो तो जैसे एक मत एक समुदाय ऐसा है कि वो ये मानता है कि प्रलय अवस्था इसकी सत्वर जयतम वाली जब बोली जाती है वो कभी भी नहीं थी अनादि काल से ये संसार ज्यो का त्यों आ रहा है एक और अनंत काल तक ये संसार ज्यो का त्यों बना रहेगा एक संप्रदाय है नहीं समझे क्या क्यों उदय जी क्या समझे हैं ये उसके दिमाग में आया क्या उस संप्रदाय की बात सत्य मानी जाए या प्रलय अवस्था मानी जाए और आने वाला प्रलय भी माना जाए वो उसको परमाणु से सिद्ध करना पड़ेगा शब्द प्रमाण एक अनुमान प्रमाण इनसे सिद्ध करना पड़ेगा और संसार अनादि है जो का तो ये पक्ष खंडित हो गया प्रमाणों से और अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा ये भी प्रमाण से खंडित हो गया तो प्रलवत अवस्था होगी थी होगी ये आया फिर आगे एक प्रसंग आया उस प्रसंग में ये बात आई आज के अनेक भौतिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि संसार अवस्था में था और अवस्था भी इसकी आती है परंतु प्रलयावस्था से ये स्वतः संसार के रूप में बनके खड़ा हो जाता है नानक जी आ रहा समझ में नहीं आ रहा हाँ है या ना है आ रहा है साधक जी तो ये पक्ष हमारे सामने आया कहते संसार स्वभावत है विकसित होते होते और सूर्य चंद्रमा शरीर आंख नाक ये सब कुछ अपने आप बन जाता है ये पक्ष हमारे सामने आया हमने शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से इसका खंडन किया कि सत्वर रजतम जब जड़ पदार्थ है तो बुद्धिपूर्वक उद्देश्य को लेकर के वो कोई भी पदार्थ का तीनों के तीनों निर्माण नहीं कर सकते क्या समझे वासुदेव जी आप निर्माण नहीं कर सकते विगत चेतन अवेद हाँ, मुनि जी सब तीनों जड़ पदार्थ हैं हम्म। बुद्धि पूर्वक निर्माण अपने आप नहीं हो सकता ये पक्ष आया सामने लोक में कारखाने में कोई भी वस्तु बिना बुद्धि के बिना योजना के बिना उद्देश्य के स्वतः निर्मित नहीं होती देखी जाती अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध है यदि ये माना जाए वो चेतनता आ जाती है उनमें चेतनता उभर आती है जैसे मानते जीवात्मा बन जाता है तो एक नियम काम करता है यदि पहले उनमें चेतनता थी तीनों में या एक में तो चेतनता उभर के आ सकती है और यदि पहले किसी में भी चेतनता नहीं थी तो उभर के नहीं आ सकती चाहे कितना जोर लगाइए हाँ जी क्या समझे मुनि जी पहले चेतनता थी तो उभर कर आ सकती है यदि पहले नहीं थी तो अब भी उभर कर नहीं आ सकती समझ में आई बात नहीं आई ध्रुवदेव जी घड़े में चेतनता आएगी यदि मिट्टी में चेतनता नहीं हो तो घड़े में चेतनता आ नहीं सकती किसी की शक्ति नहीं कि मिट्टी से घड़ा बने और मिट्टी के कणों में चेतनता ना हो और आ गया समझ में या कोई कर देगा आशा एक सिद्धांत है जो सदा सत्य रहता है पहले जिस चीज का भाव ना हो वो भाव रूप में नहीं आ सकती क्या समझ में नानक जी पहले जिस चीज का भाव न हो न हो वो भाव में नहीं आ सकती दुकान की बातें तो याद नहीं आ रही है आप क्या समझ रही है बोला करो ये हमको ये समझ में आया बोलने में कोई बाधा नहीं है जो वस्तु पहले से वर्तमान ना हो कहीं भी वो वस्तु कभी उभर के व्यवहार में वस्तु के रूप में नहीं आ सकती आ गया समझ दूसरे पक्ष में जो भावात्मक रूप में वस्तु हो उसको अभाव में कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता बदल नहीं सकता हाँ नानक जी सुनाओ जो चीज भावात्मक सत्ता में हो उसको अभावात्मक सत्ता में नहीं ला सकता बोला करो गूंगे की तरह नहीं बैठो कैसे उदाहरण दो जीवात्मा की सत्ता है हाँ हाँ हाँ को उसको मिटा कोई नहीं सकता मिटा कोई भी नहीं सकता क्यों जी ठीक है या नहीं है आप चुपचाप बैठे आपको उत्तर देना पड़े है परिश्रम होगा दोगे उत्तर है जी अच्छा ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो किसी अभाव वस्तु का हो उसको भाव रूप में कर सकता है और भाव वाली वो उसको अभाव में बदल सकता है हाँ जी आप हाँ, बोलेंगे पूरा वाक्य बोलो नहीं कर सकता आप में से किसी को शंका हो तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो अभाव से भाव रूप नहीं बना सकता किसी का है और भाव से अभाव रूप में नहीं बना सकता किसी को अच्छा आप बोलो क्यों नहीं क्यों अच्छा दूसरा कौन बोला संदीप जी सुनो संदीप जी क्यों भाव से भाव कभी होता ही नहीं ये तो प्रतिज्ञा होगी प्रतिज्ञा को पंचाव से सिद्ध करेंगे तो कैसे बोलोगे जो हाँ, उत्पत्ति चाहिए वहाँ कोई ना कोई कारण चाहिए उत्पन्न होने के लिए हम्म। कारण की सत्ता ही नहीं तो उससे कार्य भी नहीं हो सकता हाँ जी बोलो पता नहीं हाँ जी आपको भी पता नहीं नहीं, हाँ जी बोलो हाँ जी ईश्वर के तो मुख्य रूप से पांच कार्य हैं उनमें से तो इस प्रकार के भाव से अभाव लाना या भाव से भाव लेना ये भी उसके लिए बस में नहीं अनंत बलवान है अनंत ज्ञानवान है अनंत उसका सामर्थ्य अनंत ज्ञान अनंत बल है तो क्यों नहीं कर सकता आप ऐसे कैसे कहते हैं ये नियम के विरुद्ध हो जाएगी उसी के बनाए नियम के नियम को वही तोड़ने वाला हो जाएगा जब ऐसा कर देगा तो अच्छा टूट सकता है ये नियम टूट सकता है उसने जो नियम निर्धारित किया समझिए अगर उसी को वो परिवर्तन कर देगा अच्छा उसी ने ये नियम बनाया कि भाव से भाव नहीं हो सकता नियम बनाया है या पहले से ही है जीवात्मा तो अनंत तत्व तो है अब उसको फिर उत्पन्न कर देगा मार देगा तो उसी के नियम खंडित हो जाएगा मार भी सकता है आपका मतलब नहीं मार सकता प्रश्न का उत्तर भर तो दिया नहीं है बनाया ऐसे नियम है ये तो उत्तर नहीं तो। ईश्वर ने बनाया पहले ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया है कि भाई अब भाव कोई चीज नहीं बनेगी ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने क्यों बैठे चुपचाप बोलो ईश्वर तो सहयोग वियोग करने का कार्य करता है अच्छा तो क्या भाव से भावात्मक वस्तु में नहीं जा सकता सर्वशक्तिमान होने सकता क्योंकि प्रकृति जीवात्मा और ईश्वर पहले से अनादिकाल से विद्यमान है वो तो है और कोई क्यों नहीं जा सकता जब सर्वशक्तिमान है तो पहले से अपने नियम में चल रहे हैं हाँ सर्वशक्तिमत्ता का जैसा अर्थ लिया जाना चाहिए ईश्वर के संदर्भ में वैसा नहीं लिया जा रहा इसलिए प्रतिज्ञा में दोष है हम्म। कैसे सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ यह दिया जाना चाहिए कि ईश्वर अपने समस्त कार्यों को बिना किसी के सहायता के अपने अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से ही पूर्ण करता है न कि वो जो चाहे अभाव से भाव कर दे या भाव से अभाव कर दे हाँ जी बोलो उदय जी क्या समझ में आया ईश्वर सबसे अधिक शक्तिमान है यानी अपने जो कार्य जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है उसको स्वयं की शक्ति से ही कर लेता है हाँ, हाँ हाँ हाँ और वैसे आप भाव से भाव को नहीं बना सकता सर्वशक्तिमान कैसे हुआ फिर आप बोलो ऊंचा बोलो नहीं हाँ ना करो है नहीं बताता आप बोलो सर्वशक्तिमान का अर्थ है वो अपने कार्य में किसी दूसरे का सहयोग नहीं लेता इतना ही अर्थ है उसका बस स्वयं का वो कर सकता है, स्वयं अपना कार्य सिद्ध का स्वामी भाव है भाव भाव है यहाँ भाव से भाव करना भाव से भाव करना सिद्ध हो जाएगा फिर से तो हाँ जी रणवीर जी जैसे उन्होंने बताया स्वामी जी सर्वशक्ति मत्ता की परिभाषा हम्म, हम्म। की ईश्वर अपने जो विविध कार्य हैं असंख्य कार्य हैं और बहुत विशाल विशाल कार्य हैं उन कार्यों में वो किसी की भी किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेता हम्म, इस दृष्टि से वो सर्वशक्तिमान है किंतु जो जीवात्मा है वो अन्यों से विविध प्रकार से सहायता लेता है इसलिए वो सर्वशक्तिमान नहीं है और सर्वशक्तिमान होते हुए भी ईश्वर उन्हीं कार्यों को कर सकता है जो कि होते आए हैं या हो सकते हैं इनके विरुद्ध कर्मों को कभी भी नहीं कर सकता समझ में आया नहीं आया बोलो कुछ कुछ आया तो ये एक मत है कि संसार नहीं था अब है और आगे नहीं रहेगा इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई है क्या समझे साधक जी नहीं समझे अभाव से भाव के रूप में आया था कुछ नहीं संसार बनने से पहले नहीं था सब जानते नहीं था नहीं था तो अभाव था तो अभाव से संसार बन गया और कालांतर में यह अभाव हो जाएगा एक मत ये है क्यों संदीप जी आ समझ में या नहीं आया कुछ पसीने पसीना वैसे ही हो रहे हैं या समझ में आ रहा कुछ है जी नहीं आ रहा समझ तो ये अभाव से भाव में नहीं आ सकता ये उत्तर देना पड़ेगा व्यक्ति प्रकृति स्वतः बुद्धिपूर्वक से उद्देश्य संसार को नहीं बना सकती उत्पत्ति मानने में आगे बढ़ जाए जीव आत्माएं इतनी उन्नत हो जाए इतने शक्तिशाली हैं स्वयं में इतने बुद्धिमान हैं ये सारे मिलकर के सृष्टि को बना लेते हैं एक पक्ष ही आए दादा जी आया समझ में क्या आया सृष्टि की रचना कर, लेंगे और रहेगी और प्रलय भी कर लेंगे ईश्वर को हटा दो बीच से इसका भी खंडन उसको करना पड़ेगा जीव आत्मा को शरीर मिलता है नाड़ियां बनती हैं ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया बनती हैं और सूर्य चंद्रमा अनुकूल वातावरण होता है जब ये जीवात्मा शरीर के साथ जुड़ के कुछ सोच सकता है इससे पहले ये कुछ भी नहीं सोच सकता तो सृष्टि कैसे बनाएगा क्या समझे नानक देव जी आत्मा ईश्वर की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता मैं छोटी सी बात में उत्तर दे दिया नानक जी जी हाँ जी जीवात्मा ईश्वर के बनाए हुए कार्य जगत में से मन बुद्धि पदार्थ इंद्रिया आदि और अनुकूल वातावरण आदि के बिना सोच भी नहीं सकता तो बिना इतनी बड़ी सृष्टि को कैसे बना लेगा तो जीवात्मा भी मिलकर के सृष्टि की रचना नहीं कर सकते और जीवात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर के रचना कर लेंगे क्या समझ में आया हाँ जी धरदेव जी नहीं कर सकते क्यों चेतन है ईश्वर प्रकृति को लेकर रचना कर देता है चेतन है जीवात्मा वो प्रकृति लेके रचना कर देगा उसमें क्या बाधा है जीवात्मा को पढ़ने अवस्था में किसी चीज का ज्ञान नहीं होता विचार आदि भी नहीं कर सकता इसका अब प्रलय को जो मानता ही नहीं सदा से बनी बनाई सृष्टि आ रही वो जीवात्मा तो कर लेंगे हाँ जी कैसे सोच रहे हो जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि जो जीवात्मा बिना शरीर के कोई क्रिया नहीं कर सकता जीवात्मा में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो कोई चीज उठाकर किस कहीं स्थान पर रह दे या कुछ सोच विचार कर यहाँ तक तो ठीक है जो शरीर सदा से बनते बनाते आ रहे हैं सृष्टि की बनी ही नहीं कभी ये शरीर है सदा से यही लोक लोकांतरों को मिलकर जीवात्मा बना लेते हैं नए नए सूर्य चंद्रमा और ये बनाते रहेंगे सृष्टि तो सदा से है उस पक्ष में वो अपना एक अंग तो बना नहीं सकते वो इतना सूर्य चंद्रमा कैसे बना देंगे अच्छा तो खंडनात्मक भाषा क्यों बोलते हो अपना एक <laughs> तो ये भाषा कैसे गलत बोली जाती है उसका प्रयोग है ये नहीं समझे आप है भाषा को जैसे तैसे बोलने वाला एक विशेष रूप से न बोलने वाला वो व्यक्ति योग में गति नहीं कर सकता याद रखना भाषा का प्रभाव इतना पड़ता है कितने कितने दोष आते हैं भाषा बोलने में उन दोषों को जो नहीं जानता और उनको नहीं छोड़ देता उसको विवेक वैराग्य होगा और समाधि लगेगी ये नहीं हो सकेगा इसको समझ रख लेना अच्छी तरह अब ये पक्ष सारे के सारे खंडित हो गए अब एक बात आई दिमाग में कि इस सारी सृष्टि का बनाने वाला इसका पालन करने वाला इसका प्रलय करने वाला जीवों को ज्ञान कर्म उपासना के अनुरूप फल देने वाला एक ईश्वर स्वतंत्र अलग चेतन पदार्थ है ये दिमाग में आया अब फिर वो सत्वर तम को लेके जो महतत्व बनाया था उसने बनाया यहां तक उससे अहंकार नामक तत्व बन गया उससे पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पांच तन्मात्राएं और पांच एक मन सोलह बने ना पांच प्रमात्राओं से पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इससे ये बने तो वो व्यक्ति देखता है कि इस स्थिति में हम आ गए फिर वो क्या करता है फिर करता है कि ये शरीर आदि सारे के सारे शरीर नष्ट होंगे अच्छा तो ये पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश में मिल जाएंगे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश नष्ट हो जाएंगे और वो मिल जाएंगे तन्मात्राओं में तन्मात्रा ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया मन वो अहंकार में लीन हो जाएंगे अहंकार में लीन होंगे तो अहंकार महत्व में लीन हो जाएगा और महत्व सत्व रजत में बदल जाएगा और परले फिर आगे खड़ी हो जाएगी पहले हमने सिद्ध किया ये सृष्टि ईश्वर कृत है ये ईश्वर ने बनाई है वहां हम एक परिणाम पर पहुंचे कि एक चेतन पदार्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो इसको बनाता है ये दिमाग में बैठी हमारे फिर प्रलय था और प्रलय था तो उसकी क्या स्थिति थी अब आने वाला जो प्रलय है उसकी स्थिति भी ऐसी ही होगी अब आप ध्यान देंगे उसने ध्यान में बैठ करके देखा दोनों छोरों को छुआ उस ओर देखा तो वो प्रलय दिखता है इस ओर देखा तो ये प्रलय दिखता है और दोनों परलों को लाके खड़ा किया तो संसार प्रलयवत बन जाता हाँ जी साधक जी बोलिए प्रलयों परलयों को इकट्ठा लेकर के संसार जो प्रलयवत अवस्था में चला जाता है एक बड़ा विज्ञान है आप पहले प्रलवत सिद्ध कर लो ये था और प्रलवत पहले था वैसे होगा वो काल अरबों वर्षों का काल हो सकता है जो प्रलय होगी उस काल को हम निश्चित रूपेण ऐसा होगा ही ऐसे रूप में बुद्धि में ले जाते हैं तो वो अरबों वर्षों का काल क्षण भर का काल दिखाई देता है ये विज्ञान आपको आता है नहीं आता देगा नहीं तो पूछिए इसको समझने के लिए स्वामी जी कोई उदाहरण जैसे कि उदाहरण ये ये घास है ये जो हरा भरा इसे जो नहीं आया था जब परलावस्था थी ना इसकी जो काल के विषय में सुनो ना ये घास है ना जब बालू रेता पड़ा था राजस्थान में एक तो हरा तनका दिखाई नहीं दे रहा था नहीं था ना और उसने ध्यान से देखा तो ऐसी स्थिति अगले भूषण काल में हो जाएगी होगी जब होगी उसने आज ही अवस्था देख ली जो घास से पहले थी अब क्या समझ में आया नहीं आया हाँ जी बोलो वो बालू के ढेर बीकानेर के इधर उधर पता भी नहीं चलता मारे कहाँ जाएगा टीले पे टीला एक हरा पत्ता दिखाई नहीं देता आपको वर्षा से पहले एक भी हरा पत्ता उसको आपने देखा कालांतर में इतना हरा भरा ये भरा दिखाई दिया फिर कहेंगे ये क्या होगा कि पैदा हो गया ये उत्पत्ति है सृष्टि की और अगले काल में इन दिनों उष्ण काल में एक पत्ता भी हरा नहीं रहेगा ये जितना ढेर घास का है आने वाले प्रलय का जो घास का प्रलय होगा उस प्रलय को झट आज ही लेके खड़ा कर दिया और वैसे ही टीले दिखने लगेंगे आप एक दूसरा उदाहरण दे दो एक बालक आज ही उत्पन्न हुआ और एक वृद्ध व्यक्ति जो था वो आज ही मर गया अस्सी नब्बे वर्ष का उसकी राख होगी राख भी दिखाई नहीं देती और हमने झट ध्यान दिया ये बालक आज उत्पन्न हुआ है और ये बालक ही वृद्ध की तरह ऐसे ही राख होकर के बिल्कुल नहीं रहेगा उस बच्चे को राख रूप में देखने का फिर राख भी दिखाई नहीं देती बच्चे की तत्काल कुछ समझ में नहीं आया हाँ जी बोलो जो क्षण भर लगता है अरबों का काल उसको हम्म। उसमें कारण क्या समझे कारण ये है कि बुद्धि में निश्चित हो जाता है कि ऐसा निश्चित ही होना है निश्चित होने का ये प्रभाव है कि निश्चितता उस समय की निश्चितता आज जैसे आज ही आ गई वैसे दिखाई देती है स्वामी जी अरबों काल को छड़न मानते हैं तो वो तो कितने बड़े काल नहीं नहीं आप नहीं समझे हम्म। काल को नहीं मान रहे हम